लोग अपनी जो सुख सुविधा के साधन जुटे उसी को माफ दें मुझे ये प्राप्त है ये प्राप्त लेकिन वो उनको जो नाना प्रकार के चोरों डाकुओं से विरोधियों से शत्रुओं से सरकार से कहाँ कहाँ से किन स्थिति लुटा रहे हैं और संकट उनसे पड़े रहते हैं कितने मदद में चलते हैं कितने झगड़े चलते हैं कितने आगे करते हैं अपने साथ में कितने वकील बंदूक लिए हुए अपने साथ साथ लिए घूमते हैं ये सब ये जो करते हैं उससे पता चलता है कि उनका जीवन कोई जो वो हो निराश सुख में जीवन हो सुने ऐसी देवताओं के देवताओं के लिए जो तो सुख है जो कामना चाहते हैं वो सब पूर्ति भी होती है लेकिन कहा उनके साथ दुख भी बहुत तो है समस्याएं भी उनके साथ बहुत है और ये जो समस्याएं उनके साथ ये उनका संसार चक्कर ही है कभी सुख है कभी दुख है कभी हर्ष है कभी विषाद है कभी जन्म है कभी मरण है कभी लाभ है कभी हानि है ये सब संसार चक्र है ये राजदेश है कामना इत्यादि इसके साथ भी जुड़ी तो कहते हैं भव संतत हम परे संतत परे और लगातार पड़े हुए छुटकारा नहीं हो रहा कि अब प्रभु पाई शरण अनुसरे हे भगवान अब हम आपके शरण में आए हैं और माने ये अब हम कामना हो तो हमारी कामनाएं छूट जाए और अब हम इस कामनाओं से छुटकारा हमारा हो और हमें मुक्ति प्राप्त हो तो हम भक्ति चाहते हैं हे भगवान हम आपके शरण में आए अब देवता लोग भगवान के शरण में तो आए हैं लेकिन सीधी सीधी भगवान से भक्ति मांगे और उसी की बात करें सो देवताओं के मुख से निकलता नहीं देखो पुणे भी बंधनकारी आप तो बंधनकारी है ही है तो। पुण्य बंधनकारी और पुण्य के कारण से भी व्यक्ति बंधनकारी के मैंने बुद्धि इतनी जकड़ी रहती है उसके कारण से कि उसको भी छोड़ करके वो व्यक्ति परमात्मा की भक्ति करना चाहे ज्ञान करना चाहे तो वो भी बाधा डालने वाले ये मनोवैज्ञानिक रहस्य अपने भीतर भीतर कार्य करता रहता है किस प्रकार से उसके भीतर प्रवृत्ति चलती रहती है व्यक्ति की तो कहते हैं देवताओं ने क्या क्या कर विनती ईश्वर सिद्ध सब रहे जहाँ तहाँ करे जो इस प्रकार से देवताओं ने भगवान से विनती और हाथ जोड़ करके एक किनारे खड़े एक किनारे खड़े हो गए जमाने भगवान के सामने का सामना स्थान छोड़ दिया अब कोई दूसरा भगवान के सामने आ हाँ? नाटक का आगे का पर्दा चलो के इतने देखेंगे अगर देवताओं की स्तुति में याद रखें कि देवता लोग आप और पुण्य को प्रधानता देने वाले और बस पुण्य की बड़ी महिमा मानते हैं और स्वार्थ इत्यादि कामना इत्यादि के त्याग की उनकी बात कम समझ में आती है लेकिन अब भगवान के सामने आए तो उनको अपनी गलती समझ में आई ही यहाँ तक तो देवताओं की बात अब इसके बाद ब्रह्मा जी आते हैं तो अति में तनकुल विद्युत करते हैं तो अति सप्रेम तनक उलक ये विशेषण ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं बड़े प्रेम के साथ करते हैं ये बात देवताओं के साथ नहीं गई देवता तो जैसे ही बात बोल रहे हो भगवान के सामने स्तुति तो नहीं प्रेम नहीं भक्ति नहीं भगवान की महिमा बोलने के लिए मानव परमार्थ की बातें कर रहे हो ऐसे तो देखो भगवान की प्रार्थनाएं दो प्रकार की एक तो प्रार्थना ये रूटीन प्रार्थना बोले चले जो जी भीतर भाव कोई नहीं है प्रेम प्रेम कुछ नहीं है शब्दावली है संगीत है शब्दावली है वो सब बातें पूर्ण है लेकिन भीतर भाव नहीं ये देवताओं जैसी प्रार्थना और दूसरी भक्तों की प्रार्थना जैसे ब्रह्मा जी की प्रार्थना ब्रह्मा जी ज्ञानी भी हैं भगवान भगवान के भक्त भी हैं सदा उनका स्मरण करते कांड में जब हुई थी ब्रह्मा जी सब देवताओं ने मिलकर के जब भगवान का स्मरण किया था उस समय भी जैसे ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी उन्हीं शब्दों को देखे वहां भी इसी प्रकार से बड़े प्रेम से किया था बड़े सावधान होकर के उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी शरीर वहां पर भी उनका पुलचित था उसी प्रकार से यहाँ पर भी मैंने ब्रह्मा जी की स्थिति वहाँ प्रारंभ हुई वहाँ भगवान ने आश्वासन दिया कि हम अवतार लेंगे और अवतार लेकर के भगवान का कार्य संपन्न हो गया और ब्राह्मण मारा गया ये सब हो गया तो उसके बाद ब्रह्मा जी से जब प्रार्थना करते हैं तो वही प्रेम वही भाव ब्रह्मा जी के मन में थे बाकी सब प्रेम सन सुलकी और विधि अस्तु करत बहोरी और बहुत मैंने उसके बाद देवताओं के बाद ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे और ब्रह्मा जी की स्तुति काफी पड़ी जय राम सदा सुखदाम हरे रघुनायक सायक चाप धरे भव दारण सिंह प्रभो गुण सागर नागर नाथ विभो तन कामयनी कयनु पछवी गुण गावत सिद्ध मुनीन्द्र कवि जसु पावन रावण नागमा खगनाथ जथा करि कोपकार भंजन शोक भञ्जन गत गतक्रोध सदा प्रभुबोत्तमयम् अवतार उदार अपार गुणम् मयि भार विभञ्जन ज्ञानघनम् अज जापकमेकमनादि सदा करुणाकर राम नमामि मुदा रघुवंश विभूषण दूषण आ तपोप विभीषण दीन गुण ज्ञान निधान अमान अजम निज नितराम नमामि विभुम विरजम भुजदंड प्रचंड प्रताप बलम कंद कारण करन्दनिकन्दमहाकुशलम् विनुकारणदीनदयालयितम् सविधाम नमा रमा सहित अवतारण कारण काज परम मन संभव दारुण दोष हरम सरचाप मनोहर द्रोण धरम जल जारुण लोचन भूपवरम सुख मंदिर सुंदर श्री रमणम मदमार मुधा अनपद्य अखंडन गोचर गो सब रूप सदा सब हो गो किसी वेद वदन्ति न रविया तप भिन्न भिन्न जथा कृतकृत विभो सब पानरये वानन सादर ये जग जीवन देव शरीर हरे तव भक्ति बिना भव भूल परे अब दीन दयाल दया करिए मति मोर विभेद करी हरिए जय देव करी सकिया करिए दुख सो सुख मान सुखी चरिए खल खंडन मंडन रम्य क्षमा पद पंकज सेवित शंभुमा नृपनायक दे चरणाबुज प्रेम सदा सुभदम् विनय कील चतुरानन् प्रेम पुलकयति गात शोभा सिंधु विलोकत लोचन नहीं अगात रघुवर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय देखिए ब्रह्मा जी की इसमें स्तुति में प्रेम है भक्ति है और भक्ति की कामना भी है भक्ति चाहते हैं भगवान से उनसे वरदान भी चाहते हैं तो भक्ति का ही वरदान चाहते हैं और भक्ति का वरदान चाहते तो वैसी पुलकावली है वैसी हृदय से प्रेम है ये सब जैसे ब्रह्मा जी का है किस प्रकार का होना चाहिए दिखा देवताओं जैसा नहीं ब्रह्मा जी जैसे अब इसमें बार बार जितनी स्थित होती है बार बार ब्रह्मा जी कहते हैं हम आपकी शरण में हैं हम आपकी शरण में हैं हम आपको नमन करते हैं हम आपको प्रणाम करते हैं बार बार बोलते हैं ब्रह्मा जी अब इसमें स्थिति में भगवान के निर्गुण रूप का भी वर्णन है सगुण रूप का भी वर्णन है उन दोनों का वर्णन इस स्तुति में मुख्य रूप से परमात्मा क्या है उसी का निरूपण कि भगवान क्या है मैंने ये स्तुतियों से पता लगता है कि परम परमात्मा क्या है और परमात्मा निर्गुण रूप क्या है तो उसका क्या रूप है सगुण रूप है तो क्या रूप है इन स्थितियों में उनका वर्णन रहता है और इन्हीं का स्थितियों का स्मरण मैंने जैसी ये स्थितियां हैं ये प्रामाणिक स्थितियाँ ऐसी स्थितियाँ गाली भी चाहिए जब भगवान की प्रार्थनाएं करते हैं तो आज के लौकिक कवि जैसी स्थितियाँ भगवान को बना देते हैं जिनमें अपने ही सुखों की गाथा तमाम होती है उस प्रकार की है स्थितियाँ इस प्रकार की जैसी की ये जो है ये है शास्त्रीय प्रार्थनाएं प्रामाणिक प्रार्थनाएं जो आध्यात्मिक विकास करने वाली हैं व्यक्ति को आगे उठाने वाली हैं ये सब करने वाले भीतर भीतर ये स्थितियाँ अस्पताल भी करेंगे तो अपने हृदय में सद्भाव भावित होकर के व्यक्ति के विकार दूर होंगे आध्यात्मिक अवसर सीखना जा सके तो कहते हैं जय राम सदा सुख धाम हरे तो कहते हैं कि आप सुख के धाम भगवान श्री राम जी हैं सदा सुख के धाम और हरे मन दुखों का हरण करने वाले और आपकी जय हो यहाँ से शुरू करते हैं कहते रघुनायक आप रघुनायक रघुवंश के नायक हैं तो समस्त जीवों के भी स्वामी सारे के साथ भरे धनुष आप धारण किए धनुष बाण धारण किए हुए तो भगवान के सगुण रूप के सामने जैसा है उसका वर्णन करते हैं बीच में निर्गुण का भी वर्णन करते हैं फिर सगुण का वर्णन करते हैं बीच बीच में निर्गुण सगुण दोनों का साथ साथ करते जाते हैं कहते भव बारण दारण सिंह प्रभु भव बारण ये संसार जो है ये हाथी की तरह से बारन हाथी तारन मन उसको विनष्ट करने वाले सिंह प्रभु ये भगवान आप सिंह के समान जीव के साथ में संसार चक्र की संसार की समस्या लगी हुई संसार में ग्रसित जीव ये इसकी सबसे बड़ी समस्या है और संसार के निवारण करने वाले भगवान आप हैं तो संसार को समझ लो सिंह के समान हाथी के समान है तो भगवान उसके लिए आप सिंह के समान या सिंह हाथी को समाप्त करके मार दो किसी प्रकार से आप

धर्म संपादन बनो अब बारण में कई अर्थ हो उसमें एक बार बारण उदाहरण उदाहरण बारण का उद्धार करने वाले मैंने हाथी जब उसमें फंस गया उसमें मगर ने उसको पकड़ लिया तो कारण उदाहरण तुम बारण बनो नहीं बारण मैंने मतलब बारे मत बनो हम इतनी प्रार्थना करें आप ध्यान ही न दो तो बारण मैंने नहीं करते तो सारे बारे कहते करते हर सारे बारे बच्चे हैं हर ये बोध बच्चे हैं तो तुम कारण बनो तो कारण तेज कारण मन मना करना कारण माने निवारण करना कारण के तेज तुम्हें के तेज करूँ कितने बार हम आपको मना करूँ तुम तुम बार बोले मत बनो तुम तो बारण का उद्धार कर देने वाले हो तो वही मोह रूपी बारह हमारे साथ भी लगा हुआ उसको दूर नव बारण कारण तुम्हें तो हाथी नौ बारण दारण सिंह प्रभु इस संसार रूपी हाथी को मारने के लिए आप सिंह के समान हो और गुण सागर नागर नाथ विभो आप गुणों के सागर नागर अब देखो भगवान को समझने के लिए ये भी ये सब तो प्रार्थनाएं करें बार तो बार याद आता रहे कि परमात्मा के वाले क्या अरे जो समस्त सदगुण है भाई परमात्मा अरे कोई दया परमात्मा की बहुत बातें करते हो अरे परमात्मा की बातें थोड़ी करते गुणों की बातें करते गुण ही परमात्मा अगर किसी व्यक्ति में सत्यता है प्रेम और उदारता सतत तो परमात्मा परमात्मा को इससे अलग कोई दूसरे थोड़ी है अगर कोई सदा आनंद में है शांति में है जो तो परमात्मा में तो परमात्मा को इससे अलग कहीं कोई है अरे करे आप तो प्रवृत्ति बातें करते बड़ी तो किसकी बातें करें बातें न करें प्रेम की बातें न करें उदारता क्षमा की बातें न करें और किसकी बातें करें यही सब परमात्मा यही आनंद है शांति है ज्ञान है संतोष है यही तो सब परमात्मा है तो कहते हैं गुण सागर आप गुणों के सागर यहाँ गुणों के माने जितने की सही गुण है उनकी बात है यहाँ गुण के माने सत्र समझ रहे तो गुण सागर नागर नागर माने अपने ज्ञान निधान हो या नागर मैंने चतुर्थ कहा बड़े चतुर हो बड़े ज्ञान निधान हो बुद्धिमान हो नाथ विभो आप सबके स्वामी हो विभो मैंने व्यापक हम्म? आप सर्वत्र व्यापक अनंत हो यही सब भगवान की महिमा है तन काम अनेक अनेक सभी भगवान सामने बैठे हुए हैं उनका बड़ा सुंदर स्वरूप है तो सुंदर स्वरूप का भी वर्णन करते हैं आपका शरीर देखो कैसा सुंदर है आपका बड़ी सुंदर काम है नहीं ऐसा सुंदर है कि काम वो अभी करोड़ों कामदेवों के समान आपका सुंदर शरीर तो गुण गावत सिद्ध मुनि गई आपके गुणों का गान ये सब सिद्ध कबींद्र मुनि ये सब के सब इंद्र ये सब के सब आपके गुणगान करते रहते हैं जस पावन आपका यश बड़ा ही पवित्र है पवित्र के मैंने भगवान का यश तो स्वयं पवित्र है और भगवान का तो यश पवित्रता सबसे बड़ी पवित्रता यश की यह है कि भगवान के यश का गान करता रहे तो उसका चित्र भी पवित्र हो उसके भी दोष दुर्गुण दूर हो जाए ऐसी पवित्रता है जैसे गंगा जी पवित्र है कि मैंने गंगा जी में स्नान करके तो पाप दूर हो जाए तो, तो गंगा जी पवित्र है और पाप फिर भी बने रहे तो कहा गंगा जी पवित्र पवित्र हुआ है जो तो स्वयं पवित्र हो और दूसरे को पवित्र कर दे तो भगवान के चरित्र जो सुनते हैं जो गाते हैं वो भी सब पवित्र हो जाते हैं तो जब रावण रावण नाग महा अब कहते हैं देखो रावण जो था पहले अब आप बताते हैं कि रावण क्या था रावण के मान लो एक सर्व के समान नाग मन सर्व एक बड़ा भयंकर सर्व था और कार मारता जहरीला था सबको पीड़ा पहुंचा रहा था काल समान था उसको आपने क्या किया खगनाथ जथा खजनाथ मैंने गरुड़ के समान उनके समान तरीकों को कहा अब जैसे कि गरुड़ किसी नाक को पकड़ ले उसको कोई डर नहीं लगता किसी प्रकार से आपके लिए रावण का आप तो रावण को इसी प्रकार से जैसे कि गरुड़ सबको पकड़ ले इसी प्रकार से आपने रावण को पकड़ लिया विनाश कर दिया खा गए उसको समाप्त हो गया जैसे कि गरुड़ जो है सब को पकड़ भी लेता है काट भी लेता है खा भी जाता है ऐसे ही किया भगवान ने भगवान ने भी रावण को अपने कब्जे में किया उसके खंड खंड किए और अंतता को उनके मुख में प्रवेश कर गया रावण कर गया भगवान के मुख में प्रवेश मान जैसे कि जरूर सब खा गए तो खगनाथ जथा करी तो कहा जनरंजन भंजन शोक भयम आप जनरंजन भक्तों को सुख देने वाले हैं और भंजन शोक भयम और शोक और भय का भंजन करने वाले हैं जैसे भक्त लोगों के साथ जो भगवान के भक्त हैं उनके साथ में भगवान का क्या व्यवहार है उनको सुख देंगे उनके दुखों को दूर करेंगे भय को दूर करेंगे अब भक्ति का भी यही लक्षण है अगर कोई भगवान के शरण में जाए और उसके हृदय में भक्ति आ जाए और भक्ति आने के बाद में भी उसका शोक बना रहे उसका भय बना रहे तो उसकी शिकायतें बनी रहे चिंता बनी रहे दुख बने रहे तो क्या भक्ति भगवान की भक्ति आ जाए तो इसे समाप्त हो जाना चाहिए बस और वो आनंदित हो जाए हृदय से प्रसन्नता उत्साह ये सब वार्ता इत्यादि को सब सुनाया जाने और गत क्रोध सदा प्रभु नयन हे भगवान गत क्रोध आपने क्रोध करेगी तो भगवान ने सब जितने निशाकर वंश का सबको विध्वंस कर दिया मार दिया रावण को भी मार दिया लेकिन भगवान ने क्रोध फिर क्रोध किया आपने बिना क्रोध की सबको मार दिया ये तो देखो अद्भुत लीला भगवान जी ब्रह्मा जी क्या कहते बिना क्रोध के ही सबको आत्माते तब क्रोध आपको क्रोध चाहिए सदा प्रभु बोधमय और हे भगवान सदा आप ज्ञान स्वरूप बोधमय मैं ज्ञान स्वरूप भगवान की यदि मैंने जीव के साथ ये है कि कभी ज्ञान करेगा हर्ष विषाद ज्ञान है ज्ञान जीव का लेकिन परमात्मा सदा ज्ञान स्वरूप उत्तरकांड में आगे चल करके एक आदर्शन भी कहते हैं कि अगर जो सबके रहे ज्ञान की तरफ ईश्वर जीवन भेद कहो कस अगर सबको एक समान ज्ञान बना रहे तो फिर ईश्वर में जीवन तो नहीं करेगा बस बात यह कि ईश्वर को सदा परमात्मा को सदा ज्ञान एक बोधमय है वो सदा ज्ञान रहता है और अज्ञान कभी अज्ञान कभी ज्ञान कभी अज्ञान इसमें करता रहता है जगत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम अवतार उतार अपार गुणम अवतार उतार ये भगवान आप अवतार लेते हो मैंने रूप निराकार निर्विकार लेकिन शरीर धारण सबके अवतार भी आप लेते हो और उदारता भी मैंने दूसरे लोगों को जो सज्जन लोग भक्त लोग हैं देवता लोग हैं उनकी ऊपर करने के लिए आप अवतार लेते हो और अपार गुणम आपके गुण अपार मैंने अवतार लेकर के जो आप जीवन करते हैं वो सब आपके गुण है और उनके गुणों के आदि लीलाओं का वर्णन कौन कर सकता है गुणों का वर्णन कौन कर सकता है इस प्रकार के मई भार विभंजन ज्ञान घनम मई भार मैंने पृथ्वी का भार विभंजन पृथ्वी का भार हरण करने वाले हैं और ज्ञान घन जैसे प्रकार का बोधमय जैसे ज्ञान घनम मानी ये भगवान का लक्षण बार बार स्मरण करना चाहिए ये शुद्ध ज्ञान अब देखो चेतना जो है शरीर में जो जीवन शरीर जीवित शरीर और मृत शरीर तो शरीर में क्या है जीवन और बुद्धि में क्या है हाँ? बुद्धि में ज्ञान है ज्ञान है तो कभी बात समझ में आती तो ज्ञान है नहीं समझ में आती तो ज्ञान है लेकिन ज्ञान और अज्ञान का कारण क्या है जो चित्त तत्व है वो मुख्य वस्तु है तब जीवन से ऊपर उठ करके ज्ञान ज्ञान को समझो और ज्ञान ज्ञान से ऊपर उठ करके शुद्ध चेतना है उसको जाना उच्चित है वो परमात्मा है उस परमात्मा जब बुद्ध में प्राप्त हुआ तो ज्ञान ज्ञान आ गया जब शरीर में वो परमात्मा प्रकट हो गया प्रतिबंधित हुआ तो जीवन मालूम मिला जब शरीर में जीवन रूप में भी वही परमात्मा और बुद्धि में भी वही ज्ञान ज्ञान के रूप में वही परमात्मा है और उसके ऊपर स्वयं अपने आप में चिंतन वो सदा एक समान चेतना स्वरूप है उसी जी कहते ज्ञान गरम बोधमयम तो परमात्मा में ज्ञान ज्ञान के भेद नहीं है उसमें जो है वो चेतना में घटा बड़ी कोई समस्या नहीं है उस चेतना के आने जाने की कोई बात नहीं है वो सदा एक रस अखंड होकर के विद्यमान है उसको शुरू करना आज अब वो तत्व जो भक्त चैतन तत्व है वो तत्व है वो आज मैंने अपनी सत्ता से सदा विद्यमान है अनादि और व्यापकम व्यापक है मैंने सर्व व्यापक अनंत है ये व्यापक है और एकम और एक अद्वती मैंने वो एक ही उस परमात्मा का कहीं कुछ नहीं ये बात बराबर आती थी तुलसीदास जी द्वैतवादी होकर के भी अद्वैत का बड़ा पोषण करते द्वैत तो उन लोगों के लिए जो जीव भाव में पड़े हुए उनके लिए द्वैत लेकिन वैसे परमात्मा परमात्मा तो अद्वैत ही है एकदम के माने अद्वैत रूप परमात्मा ही परमात्मा ही सर्वत्र कहीं जगत अगर आगे सब ब्रह्म जी की स्थिति में आ जाता है ये जीव क्या है ये सब कुछ एक परमात्मा एकदम अनादि आप अनादि हैं अज हैं सदा एक समान है सदा के तो माने आप अज हैं तो सदा अज आज व्यापक हैं तो सदा व्यापक आप अगर एक हैं अद्वती हैं तो सदा ऐसे नहीं ये सृष्ट नहीं हुई कि तब तो आप एक थे और अद्वय थे तो यह सृष्ट होगी तब तो दो गए ऐसा नहीं सदा अद्वय है सृष्टि है नहीं करुणा कर राम नमामि मुदा मान धान हो श्री राम राम है मैंने सबके हृदय में करने वाले हो नमामि मुदा मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ में आलादित होकर के आपको प्रणाम कर रहा हूँ मुद्द के माने प्रसन्नता है और मुद्द के माने है अपने आप के लिए मैं आत्मा जो किसी प्रकार का गुण सिद्धांत ज्ञान निधान जितना बना आदि अनंत जो परमात्मा है मैं उसी की साधन तो अभी तो पहले तो भगवान के सगुण रूप का वर्णन किया और उसके बाद में जहाँ अज्ञापक में एक मना सदा इत्यादि कह दिया मैंने निर्गुण रूप की वर्णन कर दिया तो निर्गुण सगुण तो दो दो थोड़े हैं जब सगुण की आराधना करोगे तो निर्गुण को भी समझना पड़ेगा कोई ऐसा करके नहीं हो सकता कि निर्गुण जैसे कुछ बात होती नहीं निर्गुण तो है ही है सगुण रूप तो सुगमता के लिए है भक्तों के लिए है उसकी उपासना इत्यादि करके निर्गुण तक तो पहुंचना ही पड़ता है और निर्गुण भी अगर कोई प्रभु को मानता तो सगुण की उपेक्षा कैसे करोगे जगत रूप में वही परमात्मा है जीव रूप में वही परमात्मा है तो उसको भी कैसे भूलोगे इसलिए सगुण रघुवंश विभूषण भूषण हा आप रघुवंश में ये भूषण है रघुवंश में एक से तपस्वी ज्ञानी भक्त लोग सब पैदा हुए जीवन में आप में सर्वमा परमात्मा स्वरूप हो और दूषण हा समस्त दोषों का हरण करने वाले दूषण के मैंने दो अर्थ है एक तो खर वाला दूषण है खर दूषण तो खर दूषण का भगवान ने मारा हा मैंने मारा तो खर दूषण के शासनों को आपने मारा वो आप हैं और दूषण हा मैंने हमारे अंदर जितने दोष हैं उन दोषों को भी आप ही दूर करने वाले ये भगवान आप चयन ऐसे हैं और कृतभूत तो विभीषण दीन रहा विभीषण दीन रहा विभीषण बड़ा दीन था दीन था रावण ने उसको बड़ा परेशान कर रखा होगा हम्म, वो आपके शरण में आया तो क्या किया कृतभूत आपने से राजा बना अब उसका वितरण दीनता थी रावण उसकी विभीषण के समाप्त विभीषण जीव और मोह के अधीन होकर के संसार चक्र में पढ़ करके जीव दीन हो रहा है जीवन जैसे दीन था ऐसे हर जीव दीन हो रहा है भगवान की कृपा हो तो इस जीव की चिंता समाप्त हो जाए कृतभूत कि मैंने अपनी ही भावना वृत्तियों का जितनी की बड़ी बुरी वृत्तियां उन सबका स्वामी होकर के बैठ जाए जीव तो वही शांत हो जाए राजा बन जाए तो का विभीषण दीन रहा गुण ज्ञान निधान अमान अजम आप गुण और ज्ञान के निधान समस्त गुण आपने विद्यमान है तपस के साक्षी गुण है शराब में है आप ज्ञान के भी निधान है और अमान अमान तो मैंने अहंकार है ये अहंकार भी जीव की समस्या है परमात्मा जी ने और अहंकार रहे अजम जो पहले कहा अधिव्यापक अच्छा अजम के मैंने जिसका भी जन्म नहीं होता मैंने भगवान का अवतार होता है इसमें जन्म नहीं होता ये कहते रहते हैं आपका अवतार तो होता है अवतार उदार अपार गुणम आपका अवतार तो आप लेते हो लेकिन अज्ञापक अजम लेकिन अजन्मा आपका जन्म नहीं होता निज राम नमाम विगम गिरजन नमाम हे भगवान हे राम हम आपको फिर प्रणाम करते हैं जिस प्रकार का नमामि मुदा फिर कहते हैं कि हे भगवान हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं आप जीव हैं और विरज जीव मन व्यापक कहीं भी चीज कहा है उसको कि हे नाथ विभो क्रियात्मक है विभो मैंने व्यापक है व्यापक है जिस ब्रह्म व्यापक परमात्मा सर्वव्यापी निर्गुण आकार व्यापक है वैसे आपका अब जब ब्रह्मा जी देखते हैं भगवान राम को यद्यप मूर्तिमान रूप धारण किए हुए एक सगुण साकार रूप में मानवाकार रूप में देखते हैं लेकिन कहते हैं आप तो व्यापक हो जैसे आकाश व्यापक है ऐसे कहते हैं पीछे भगवान का जो रूप है निर्गुण आकार वो भी दिख रहा है पूजा करने का भी दिखाई नहीं है जब मूर्ति की पूजा करते हैं तो मूर्ति का आकार दिखाई देता है छोटा इस प्रकार का वैसा लेकिन भाव इस प्रकार का जो परम परमात्मा है उसकी उपासना करते हैं उसी की मूर्ति जब मूर्ति की पूजा करें मूर्ति की उपासना करें तो संकुचित बुद्धि नहीं रहे मूर्ति मात्र ही बुद्धि न रहे उसके पीछे व्यापक बुद्धि होनी चाहिए तो कहते नित राम नमामि विभम गिरजम गिरजम मैंने गिरज मन जिसमें किसी प्रकार का विकार नहीं जिन विकार नहीं भुजदंड प्रचंड प्रताप बलम भुजदंड प्रचंड आपकी भुजाएं बड़ी शक्तिशाली हैं आपका प्रताप भी बड़ा तेजस्वी है कल निधान आते हैं खलदंड निगंध दुष्टों के समूह जितना था उनका आपका नाश करने वाले हैं महाकुशल उनका विनाश करने में आप बहुत कुशल हैं जिन कारण दीन ऊपर के ऊपर तो बिना कारण के दया करते हैं संसार में ऐसा होता है जब किसी पर कोई दया करता है तो अपना स्वार्थ देख करके दया करता है ये संसारी लोगों के साथ कुछ नहीं तो इसलिए चाहेंगे कि हमने किसी पर दया कर दी तो लोग बात प्रशंसा करें तो कि देखता कितना अच्छा आदमी है दूसरों की सेवा करता है यही चिंतन कुछ न कुछ रहता है लेकिन भगवान जब सबके ऊपर कृपा कर रहे हैं तो उनका कोई स्वास्थ्य तो कहते हैं बिनु कारण दीन दया बिना कारण तीनों के ऊपर प्यार करने वाले उनका हित करने वाले हैं छविधाम नमामि रमा सहितम हे भगवान श्री राम जी आप जो है सौंदर्य के धाम है आपको हम फिर नमाम प्रणाम करते हैं रमा सहितम नमाम आप हैं आपके साथ में रमा सीता जी विराजमान है हम दोनों को ही प्रणाम करते हैं भवतारण कारण काज परम भवतारण मन संसार सागर से पार करने वाले हैं कारण काज परम आप परमात्मा के और गुण जो हैं महिमा जो भगवान की है वो व्यक्ति करते रहते हैं कारण कार्य से परे होने के माने कारण कार्य दोनों ही प्रकृति है एक अव्यक्त है दूसरी व्यक्ति है एक अध्यात्म है दूसरी प्राकृत है एक परमात्मा में निहित शक्ति अव्यक्त शक्ति है और दूसरी व्यक्ति शक्ति ये कार्य कारण है और परमात्मा इन दोनों कार्य कारणों से परे हाँ, इस प्रकार से बोलते हैं पहले कारण में देखते हैं कि जगत का कारण कौन थे परमात्मा तो ये तो प्रारंभिक पाठ पहली पाठ शुरू शुरू का पाठ आगे चलकर के पाठ क्या है परमात्मा कारणकारी कुछ नहीं फिर कौन ये प्रकृति ही कारणकारी दोनों